और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है और तमाम मामला उसी की तरफ लौटाए जाते हैं सो आप उसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें और आपका रब उससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो